का बयालीस के बाद दुआ संख्या बयालीस यही विधि करत सप्रेम विचारा आयु सपद सिंधु तारा कपिल विभीषण आवत जाना को रिपुदूत विशेखा आई राखी कपी सिपह जाना कौरी रिपुद

जय प्रभु सखा बूझिए कहा कही कपी ससुनहु नर नाहा ज्ञान न जाइन साचर माया काम रूप के कारण आया

खानी तुम नीक विचारी मम पन शरणागत भयहारी सुन प्रभु वचन हर हनुमाना शरणागत बक्षल भगवाना शरणागत कहूँगे भजनी निजय नहित अनुमान नर पामर पाप मैं दिन विलोकत हानि पान करे लंका में जब रावण ने विभूषण को लात मार करके निकाल दिया वहां से तो विभूषण ने एक बार फिर जाते जाते कहा तो, देखो सीता जी को अगर वापस अभी कर देते तो रावण का या निशाचर वंश का कल्याण नहीं है ऐसे कह करके वो चला गया और जाते हुए आकाश मार्ग से जाते हुए समुद्र के पार होकर जहाँ भगवान राम थे बानव सेना सब खड़ी हुई थी वहाँ पर विभीषण चल दिया रास्ते में कहते हैं कि कल जैसे विचार कर रहे थे अंत में तो वो रास्ते में विचार करता चला जा रहा है हम जाकर के भगवान के सुंदर मृदु चरण कमल देखेंगे जिनका की जिनकी की धूल से अहिया कर गई जिनकी पादुकाओं का सेवन भरत जी निरंतर करते रहते हैं सीता जी जिनका की स्मरण करती रहती है जिन चरणों से भगवान जो है वो तो कपट उम्र के पीछे दौड़े थे उन चरणों के मैं दर्शन करूंगा शंकर जी के हृदय में जो चरण कमल की तरह से उनके हृदय सरोवर में सदा विद्यमान है ऐसे भगवान के चरणों के मैं दर्शन करूंगा ऐसे मनोरथ करता हुआ वो चला जा रहा था जाते समुद्र के पार पहुंच करके जहाँ पाना और सेना थी वहाँ पहुँच गए अब वहाँ विभूषण का क्या होता है तब यहाँ कहते हैं यही विधि तरह के सप्रेम विचारा उस प्रकार से विभूषण बड़े प्रेम के साथ भगवान का स्मरण करता हुआ उनके चरणों का स्मरण करता हुआ पहुँच गया वो शपथ सिंधु तारा वो शपथ में बहुत शीघ्र वो समुद्र के इस पार आ गया अब देखो तुलसीदास जी कहाँ है समुद्र के उसी पार है जहाँ भगवान राम है वो लंका की तरफ नहीं आए अभी <coughs> वहां पर से देख रहे थे कल परसों कि जब उसका वर्णन करते हैं तो कहते यहाँ पे भगवान राम और बानर सेना समुद्र के किनारे आ गई और वहां लंका में क्या हो रहा है तो उसका वर्णन करते रहे <coughs> लंका के दरबार के दरबार का वर्णन कर दिया विभीषण के वहां के चलने का वर्णन कर दिया और कहते हैं अब वो विभीषण यहाँ आ गया यहाँ आ गया तो मैंने कहा से यहाँ है और भगवान राम है वहाँ विभीषण पहुँच गया आयु समुद्र सिंधु पारा समुद्र के उस पार आ गया तो कहते हैं कपिल विभीषण आवत देखा तो बांधवों ने देखा कि विभीषण को आते देखा लेकिन वो ये नहीं पहचान पाए कि विभीषण है कौन है आते देखा कि विभीषण को आते देखा तो उन्होंने क्या सोचा कि जाना को रिप दूत विशेखा वो समझे कि यह <coughs> कोई हमारे शत्रु का दूत है वो आ रहा है अब जहाँ दो सेनाएं होंगी और आपस में एक दूसरे से युद्ध होना है तो एक दूसरे को शत्रु करके मारे जाएंगे और फिर जो वो जहाँ शत्रुता होती है तो वहाँ किस प्रकार का व्यवहार होता है युद्ध होता है तो किस प्रकार की स्थिति होती है उसी का ध्यान में रख करके वर्णन करते हैं बालवीर समझते हैं रावण हमारा शत्रु है और वहाँ जो शत्रु होता है तो शत्रु जो है वो दूसरी सेना की आग होने के लिए कितने लोग हैं कितने शक्तिशाली है अस्त्र शस्त्र कितने हैं कितने बहादुर वीर है ये सब पता लगाने के लिए दूध लिए जाते हैं तो इन लोगों ने सोचा कि बस इसीलिए ये सब आए कोई आया हुआ है दूध ये समझा विभीषण को अभी रावण का भाई करके वो नहीं जान पाए तो तारी रात कपी से कहीं आए लेकिन फिर उसको जो उन्होंने रोक दिया बने जहाँ बानर सेना उसके पास बाहर ही सेना की ताव जहाँ पड़ा हुआ उसके बाहर समुद्र के किनारे विभीषण को इन बानरों ने रोक दिया और उससे पूछा कि आप कौन है कैसे आए हैं तो जब सब उसने विभीषण ने बताया कि हम रावण के भाई है हमारा नाम विभीषण है हम भगवान श्री राम जी के दर्शन करना चाहते हैं ये सब उन्होंने बताया तब वो सब बानर ने जा के सुग्रीव को ये सूचना दी समाचार सब तो ये कहते हैं जाना तो ताज रात कपी से कहीं आए कपी से मैंने यहाँ सुग्रीव सुग्रीव के पास आते हैं वो सब बानर और आकर के बताते हैं कि इस प्रकार से रावण का भाई विभीषण आया है समाचार सब ताजी सुनाए और समाचार उनको सुग्रीव को सुना दिए मैंने समाचार के माने क्या है कि जो कुछ उन्होंने विभीषण से सुना था उनका परिचय जाना था और जो कुछ विभीषण ने कहा था वो सब आ करके उन्होंने सुग्रीव को बता दिया और सुग्रीव ने क्या किया कहा सुग्रीव सुनो रघुराई तो सुग्रीव उसके माने तो भगवान राम के पास गए और उनसे जाकर के बताया कहा कि हे भगवान सुनिए आवा मिलन दसानन भाई कहते तो राम का भाई वो विभीषण वो आपसे मिलने आया है कह प्रभु सखा पूछिए कहा अब देखो भगवान पूछते हैं सखा करके सुग्रीव को बोलते हैं कहते हैं कि हे सखा अब ये आप बताइए या बूझिए कहा अब बताओ क्या होना चाहिए समय मैंने सम्मत मांगते पूछते हैं भगवान उनसे की क्या होना चाहिए अब देखिए यहाँ व्यवहार किस प्रकार का है भगवान कैसे व्यवहार करते हैं वो एक आदर्श है ये भी देखो भगवान कैसे बोलते हैं अब यहाँ की व्यवस्था किस प्रकार की भी देखो बानर आकर के सुग्रीव को सूचना देते हैं सुग्रीव समस्त बानर सेना का स्वामी है राजा है इसलिए वो सब उसको सूचना देते हैं और सुग्रीव जो है भगवान राम की सहायता के लिए और उनको लिए सेना लेकर के आए हैं अपने भगवान राम से वार्ता करते हैं सम्मति उनको देते हैं बातचीत उनसे होती है तो जैसा भगवान कहते हैं फिर उस प्रकार का हो इसलिए सुग्रीव के भगवान के पास जाते उनको बताते हैं ऐसा नहीं किया कि जैसे बांधव ने आकर के बताया सुग्रीव को कि कोई इस प्रकार से आया है तो सुग्रीव तुरंत ही कहते कि पकड़ा उसको मेरे पास और उसको लेकर के बांध लेते ऐसे करके सुग्रीव ने नहीं किया सुग्रीव जानते हैं कि हमारे साथ भगवान राम है तो उनकी सम्मत से सब काम होना चाहिए इसलिए उनको सूचना सब दी गई लेकिन अब देखो अब भगवान राम भी अपनी तरफ से आदेश नहीं देते जो सी सूचना मिलते तो या तो भगवान के देते विभीषण को लाओ या बांधो ये कुछ करो अपनी तरफ से निर्णय दे देते देखो ये सब बातें जो है बहुत ही व्यवहार में कुशल व्यक्तियों के जीवन का तरीका ये है जो इन बातों के शास्त्र की इन बातों को नहीं समझते देखते नहीं है वे जो है वो गलत व्यवहार करते हैं उनका जिन्होंने व्यवहार गलत होता है उसके परिणाम भी गलत होते हैं उसके परिणाम स्वरूप फिर वो दुखी भी होते हैं क्रोध आदि भी उनको आते हैं असंतोष भी होता है धक्के लगते हैं ये सब संसार में हुआ करता है लोगों कारण कि उनका व्यवहार का तरीका ठीक नहीं कैसे व्यवहार होता है अब देखो यहाँ पर भगवान के पास आते हैं सुग्रीव आकर उनको बताते हैं कैसे विभीषण आया हुआ है तो जब विभीषण भगवान तो फिर भगवान ये भी उसको सुग्रीव से ही पूछते हैं क्या करना है तो कहा कपीस सुनो नरना तो अब जो है कपीस के मैंने सुग्रीव अपनी सम्मति देने लगे भगवान को क्या करना चाहिए अब एक ध्यान बराबर रखे जो को शास्त्र को समझना है और अध्यात्म विद्या को समझना है तो भगवान तो यहाँ स्थित है ये परक्रम परमात्मा उन्हीं के समस्त जगत जितना भी जगत रचना जितनी है सब उन्हीं के अंदर है वे सबके स्वामी है उनके लिए कोई पराया कोई नहीं है सब उनके अपने अंदर है इसलिए भगवान को न कोई कामना है और न कहीं किसी से भय है ये बात ध्यान रखें और विभीषण आदि जो है वो उनकी स्थिति यहाँ है जीव है एक जीव को एक जीव के लिए दूसरा जीव भिन्न है और वो मित्र भी हो सकता है शत्रु भी हो सकता है तटस्थ भी हो सकता है ये जीवों के संबंध है लेकिन ये संबंध परमात्मा के लिए नहीं है परमात्मा के लिए तो सब आत्मस्वरूप ही है अपने से भिन्न कोई नहीं इसलिए न कोई शत्रु है न कोई मित्र है न कोई उदासीन है अब जैसे हम अपने सारे शरीर में व्याप्त हैं सारा शरीर अपना है हम्म, तभी शरीर में शरीर का हमारा मुंह है आंखें हैं सिर है हाथ है पेट है अब बताइए इसमें कौन हमारा शत्रु है कौन हमारा मित्र है अगर हम जानते हैं सबके सब हमारे अंदर हमारे ही रूप है तो इसमें से कोई हमारा शत्रु न कोई हमारा मित्र न कोई हमारा तटस्थ क्योंकि हमसे भिन्न है ही नहीं ऐसा करके अनुभव करते हैं इसी प्रकार से वो परमात्मा समस्त विश्व ब्रह्मांड में समस्त जीवों में व्याप्त होकर के देखता है कि सब अपने ही है अपने से भिन्न कोई नहीं है अद्वैत माने अपने से दूसरा कोई है ही नहीं जब दूसरा नहीं है तो किससे मित्रता और किससे शत्रुता अब जब वो परमात्मा सगुण साकार रूप धारण करके अवतार लेता है तो अपने उस ज्ञान को भूल नहीं जाता शरीर के स्तर पर भले ही भेद दिखाई दे कि राम ही रावण है कि अन्य व्यक्तियों की दृष्टि में है लेकिन भगवान राम पर परमात्मा और ज्ञान में ज्ञान के मैंने भूल नहीं गए भूल नहीं गए उस स्थिति को इसलिए सदा उनको स्मरण रहता है कि उनके वास्तविक स्थिति क्या है अब जीवों को अब भगवान के साथ जितने बानर हैं उनको सबको समझ लो जीव भाव में जीव भाव में तो एक दूसरे से अपने आप को पृथक पृथक करके देखते हैं तो कहीं मित्र देखते हैं कहीं शत्रु देखते हैं और सुग्रीव जो उसी प्रकार से एक जीव की तरह से तो उसके लिए रावण शत्रु दिखाई देता है और शत्रु का भेजा हुआ भाई विभीषण भी शत्रु दिखाई देता है हाँ? तो देखो विभीषण का <clears throat> अपना दृष्टिकोण है हाँ? और भगवान राम का अपना दृष्टिकोण है तो ऐसा दृष्टिकोण क्यों है उनकी भिन्न भिन्न मान्यता क्यों है क्योंकि दोनों की जो है स्थिति जो है वो भिन्न भिन्न है व्यक्ति जो देव भाव में होगा तो उसका जीवन एक प्रकार का होगा जीव भाव में होगा तो उसका जीवन विचार चिंतन भाव दूसरे प्रकार का होगा और वही जीव जब आत्मभाव में परमात्मा भाव होगा तो उसका फिर विचार चिंतन व्यवहार भाव सब भिन्न प्रकार का हो जाएगा <clears throat> सब व्यक्ति संसार में एक स्तर के नहीं है सब देव भाव में हो ऐसा नहीं है सब जीव भाव में हो ऐसा नहीं है सब परमात्मा भाव में ऐसे नहीं है भिन्न भिन्न प्रकार के व्यक्ति इसलिए भिन्न भिन्न स्तर के उनके व्यवहार उनका जीवन उनका दर्शन उनकी दृष्टि इस प्रकार के भिन्न भिन्न स्तर की है अब जो दोनों मंत्र अंतर दिखाई देता है तब वो सुखी क्या कहता है कि जान न जाए निशाचर माया ये राक्षस लोग निशाचर की माया क्या समझ में आ रही वो तो आप जानती हैं किस प्रकार से स्वर्ण का मृग कितने साक्षर थे वो स्वर्ण का मृग बन गया अब ये सब देखो कैसे रूप बना बना करके तो रूप बना लेते तरह चले गए तो क्या जाने कि क्या कर रहे हैं कौन है किस लिए क्या आए हैं हाँ तो ये निशाचरी माया है ये तो अब ये सब विषय के रूप किसी ने धारण कर लिया हो किसी दूत ने या कुछ और बात हो पता नहीं कौन सा कपट के लिए आया है तो वो कपट ही दिखाई देता उनको तो गजानन चाय ने कर्म आया काम रूप के कारण काम रूप मैंने जो चाहे वो रूप धारण कर ले इच्छित रूप धारण कर लेने के कारण से काम रूप है <clears throat> मैंने ये लोग अपने निशाकर जो है वो जैसे इच्छा होती है वैसा रूप धारण कर लेते हैं तो ये अब इनको मनुष्य करके मत देखो अब जहाँ काम रूप करके कहते हैं तहाँ इनकी वृत्तियों को देखो जैसे कामना है वो क्रोध का रूप धारण कर ले क्रोध तो कामना जो है लोभ का रूप धारण कर ले कामना मद का रूप धारण कर ले कामना मत्सर का रूप धारण कर ले तो जैसे कि ये वृत्तियाँ विभिन्न रूप अपना अपना रूप बदलती रहती हैं समय समय पर ऐसे समझो कि ये सब निशाचर है ये अपनी वृत्तियों के रूपों को बदलते रहते हैं बदलना कोई आश्चर्य की बात नहीं के लिए <coughs> तो भेद हमारे लिए न सफयावा तो सुग्रीव का मेरी समझ में सही आता है कि यह कोई दूत है और रावण का भाई का देश धारण करके विभीषण का रूप धारण करके ये यहाँ पर हम लोगों का भेद लेने आया है क्या भेद लेने आया है कि हमारी कितनी सेना है कितनी शक्ति है हम युद्ध करने में कहाँ तक क्या कर सकते हैं ऐसे करती है भेद हमारे लेने सके आवा तो क्या करना चाहिए की राष्ट्रीय बांध मोहियत भावा हमें तो ये अच्छा लगता समझ में आता है तो उसको बांध करके रखो हम्म? मान के रखो कि मैंने यहाँ से लौट करके यहाँ का समाचार जाकर के रावण को न बता पाओ गिरफ्तार कर यही मान रखो अब देखो एक राजा जो है लौकिक राजा जो होगा उसका ऐसा निर्णय ठीक ही है उसकी जैसी दृष्टि है वैसे उसका निर्णय भी ठीक है तो जहाँ जिस जिस व्यक्ति का अपने आध्यात्मिक जो स्टेटस होता है ये आध्यात्मिक स्टेटस संसार में लोगों के अपने लौकिक स्टेटस है कोई ऊंचे पद के ऊपर सरकारी पद पर काम करता है तो बहुत ऊंचे स्टेटस उसका उसके पद के अनुसार हो गया कोई व्यक्ति धनी है बहुत संपत्तिवान है तो उसका स्टेटस ज्यादा हो गया निर्धन है तो उसका स्टेटस कम हो गया ये संसारी स्टेटस है इसी प्रकार से आध्यात्मिक स्टेटस क्या है आ, हाँ, कोई व्यक्ति अपने आप को शरीर समझ रहा है कोई अपने आप को जीव समझ रहा है कोई अपने आप को आत्मा समझ रहा है, है? हाँ, ये सब भिन्न भिन्न स्टेटस है तो विभीषण अपने स्टेटस के अनुसार निर्णय लेता है तो बुद्धि जो व्यक्ति की काम करती है उसकी स्टेटस के अनुसार काम करती है संसार में भी ऐसे ही देखा जाता है ये कोई आश्चर्य की बात नहीं अगर कोई एक मान लो ऑफिस है जिसमें कि एक चपरासी से लेकर के एक डायरेक्टर तक है और बीच में पाँच सात आठ पोस्ट है चपरासी है क्लर्क है सुपरिंटेंडेंट है और उसके आगे कोई जो है असिस्टेंट डायरेक्टर है डायरेक्टर है इस प्रकार से कई उसमें जो है वो डिफरेंट पोस्ट है तो उनके सबकी जितने इतने काम करने वाले व्यक्ति हैं इनकी अपने अपने पद पर होने के कारण से उनकी भावना और मान्यताएं भी दृष्टिकोण भी भिन्न भिन्न होंगे जो नीचे पद पर हो संकुचित बुद्धि उसकी होगी जब ऊंचे और पद पर जाएगा तो उसकी बुद्धि और व्यापक होगी जब ऊंचे पद पर जाएगा और व्यापक होगी अब जो उस संस्था का सबसे ऊपर डायरेक्टर है उसको तो आगे पीछे के कहाँ कहाँ तक का सब उसे भूत भविष्य का सब पता हो पूरे डिपार्टमेंट के जहाँ जहाँ जितना जितना है कितना पैसा है कितना कहाँ खर्चा करना है कहाँ आना है कहाँ जाना है क्या बनना है क्या बिगड़ना है आगे की क्या प्लानिंग है कहाँ किस प्रकार की डीलिंग है कहाँ क्या है ये सबका सब उसे सब पूरा पता होगा लेकिन उसको क्या पता जिसको की जो सुपरिटेंडेंट है तो उसे पता नहीं कि अकाउंटेंट के पास कितना अकाउंट पैसा है कितना नहीं है और कहाँ लगाना है क्या उसे क्या मालूम ये जैसे होता है इसी प्रकार से उसमें भी आध्यात्मिक जीवन में भी जो व्यक्ति शरीर के स्तर पर है वो अल्प बुद्धि का है उसे क्या पता थोड़ी सी बातें मालूम अपने शरीर को जानता है अपने आस पास के थोड़े कहा खाना है कहा पीना है और कहा सोना है क्या इंद्री वो बड़े आगे उसे कुछ पता नहीं खाने को मिल गया थोड़ी तो हो गया थोड़ा तो थोड़ा खुश हो गया कोई चीज उसको मिल गई दे दिया उसको थोड़ा तो करे खुश हो गया बस समझ गया टेंशन उसी में जो उसका सुख दुख खुशी है उतनी भर में उसकी बुद्धि काम करती है लेकिन जहाँ जीव भाव में आया तो उसको पता लगता है कि शरीर के पहले भी हम थे वहाँ सुबह सब कर्म हमने स्वीकार किए अब हम क्या कर रहे हैं अगले जीवन में क्या होने वाला वहाँ तक का दिखाई देने लगता है व्यक्ति को हिसाब से देख लो अंत में जो व्यक्ति जो है वो आत्म भाव में आ जाएगा उसे क्या दिखाई देगा उसे जो सब दिखाई देगा सारे जितने जीव है वो सब अपने आत्मभाव को मैं सर्वात्म भाव सब एक ही आत्मा है जो आत्मा हम है वही आत्मा सब है अन्य लोग नहीं जानते हो लेकिन अपने आप को पता है कि सब जीव एक ही आत्मा है और उसी आत्मभाव में मैं है सब ये अनंत चैतन्य शुद्ध निर्विकार चैतन्य है वही अपना स्वरूप है उसी में समस्त प्राणी भूत प्राणी सब उसी में स्थित है सब उसी में पलते गुजरते रहते हैं समुद्र की तरंग और बुद्ध की तरह से उत्पन्न होते नष्ट होते रहते हैं ऐसी दृष्टि व्यापक दृष्टि की है और वो जिसका सबका आधार अधिष्ठान और सर्वशक्तिमान सत्ता यही अनंत चैतन्य आत्मा ही है अब उसका देखो अब वो निश्चिंत है न उसकी मृत्यु का भय है न पल्ले बिगड़ने का चिंतन है से उसका भय है न भविष्य में आगे जन्म कहा होगा क्या होगा उसकी भी उसे चिंता नहीं है देखो सब इस प्रकार से अलग अलग करके जहाँ जिस व्यक्ति का जिस प्रकार का स्तर होगा उसी प्रकार का स्तर का जीवन है तब यहाँ कंपेरिजन करा दिया इसी प्रकार से सुग्रीव से और भगवान राम के अब देखो सुग्रीव का चिंतन किस प्रकार का है मित्र का चिंतन है जीव भाव के कारण अब भगवान क्या कहते हैं कि सखा नीत तुम नीत विचारी तो भगवान कहते हैं सुग्रीव को कि ये कथा तुमने तो बहुत अच्छी नीति की बात बताई बहुत अच्छी नीति बताई मैंने जो नहीं भगवान ने उसको स्वीकार कर लिया ये कहते तुम्हारी दृष्टि से तो बात बिल्कुल ठीक है एक राजा के लिए दूसरे राजा के साथ ऐसे ही व्यवहार करना चाहिए जैसा कि तुम विचार करते हो हम्म? तुम्हारा विचार एक राजपथ के ऊपर होने के नाते ठीक ही है तो कहते हैं सखा नीत तो तुम नीत विचारी लेकिन ममपन शरणागत भयहारी लेकिन ममपन के माने भगवान कहते तुम्हारी बात और है लेकिन हमारी बात तो कुछ और ही है हम कोई भगवान कहते हम कोई अन्य जीवों की तरह से जीव थोड़े हैं हाँ? हम तो वो परब्रह्म परमात्मा है जिसमें कि अपने से भिन्न कोई नहीं है अब यही है कि भगवान के साथ भगवान का संबंध सब लोगों से क्या है कि बस कुछ जीव भगवान को भूले हैं विमुख है और कुछ जीव भगवान की शरण में आते हैं बस इतना ही संबंध और क्या भगवान लेकिन समस्त जीव भगवान के रूप भगवान जानते सब मेरे ही रूप है और मेरे ही अंदर स्थित है लेकिन जो मुझसे विमुख है वो व्यक्ति संसार में भटक रहे हैं और जो हमारे अनुकूल है मेरी शरण में आते हैं उनको शांति विश्राम प्राप्त हो जाती है तो आप भगवान का इन जीवों से क्या पन क्या है पंच मन प्रतिज्ञा क्या है प्रतिज्ञा ये है कि अगर कोई जीव भगवान के सामने आता है तो भगवान को तो उसे सामने लेना ही लेना है दूसरा कोई विकल्प नहीं ऐसा नहीं भगवान के लिए कि नहीं कोई कोई जीव भगवान के सामने आवे तो उनके सामने जा नहीं सकता ऐसा नहीं है वो तो भगवान का एक निश्चित मत है जो भी भगवान के सामने आवे वो हर कोई आ सकता है तो मम पल शरणागत भयहारी शरण में आएगा तो शरण में लेंगे भी और उसको क्या करेंगे भयहारी उसके भय का हरण करेंगे देखो ये भक्ति की भाषा वेदांत में आप समझ लो जब तक कि जीव सभी भाव में तब तक उसे भय शरीर के नष्ट होने का भय प्रतावस्था का भय रोगों का भय दूसरे लोगों से जब लड़ाई झगड़ा हो तो कोई मार दे काट दे शरीर तो कट जाए तो उसका भय तो ये सब भय इसमें रहेंगे जीव होगा तो उसको भी भय होगा कि हम अशुभ कर्म करेंगे तो लौट जाएंगे पुण्य करेंगे तो स्वर्ग जाएंगे स्वर्ग भी चलेगा तो लौट करके आ जाए ये सब भय जीव को भी रहेंगे लेकिन वही जीव जब भगवान के शरण में जाएगा तो आत्मभाव होकर के परमात्मा भाव में आएगा तो वहाँ पर क्या अगर वहाँ अब कोई भय नहीं ये लाल रेखा के बाहर जहाँ निकल गए तो सारे भय के बाहर निकल गए वहाँ पर फिर किसी प्रकार का भय नहीं भगवान का वो क्षेत्र है जो अमृत स्वरूप है अविनाशी है नित्य है शाश्वत है आनंद स्वरूप है <clears throat> वहाँ पर किसी प्रकार का भय नहीं किसी की कोई लोभ दसना शत्रु मित्र दैर भाव ये सब संसारी जितने हैं वो सब कोई नहीं कोई आशंकाएं नहीं कोई डर नहीं बस तो इसलिए भगवान की शरण में कोई गया नहीं कि भय समाप्त हो गए भय कहकर के सब बातें बताते हैं भय नहीं कि माने वो अमृता स्वरूप ही नहीं मरने का कोई भय नहीं बिगड़ने का कोई भय नहीं कोई नरक जाने का भय नहीं कहीं कोई उसका जो है वो हो लाभ पाने का कोई भय नहीं मान अपमान का कोई भय नहीं किसी प्रकार का कोई भय नहीं कि मैंने उस प्रकार से वो अब जब इस प्रकार की भय रहित अवस्था हो जाती है इसी को कहते हैं मुक्ति अब मुक्तावस्था हो गई यही पराभक्ति की अवस्था हो गई यही परम ज्ञान की अवस्था हो गई तो उसको कहते हैं भगवान कहते हैं देखो इस प्रकार से ऐसा शब्द कह करके वो सब बातें उनका सबका समार हो जाता है ये शास्त्र विधि है शास्त्र की भाषा है जहाँ एक बात बोलते हैं तो उसी में अन्य बातों का जो समतुल्य जितनी भी जितने है बातें वो सब उन्हीं में उसमें समाहार हो जाता है तो ये कहते हैं भगवान फिर तो देखो ये सुन प्रभु बचर हर्ष हनुमंता भगवान जैसे ही कहा मम पन शरणागत भय हारी तो हनुमान ने ये बात जैसी भगवान के सुनी तो हर्ष हनुमंता हनुमान जी को बड़ा प्रसन्नता हाँ? अब हनुमान जी मन में क्या सोचते हैं शरणागत बत्सल भगवाना तो भगवान जो है शरणागत के बत्सल है भगवान की जो शरण में आता है बत्सल के मैंने उसका पालन करने वाले हैं रक्षा करने वाले हैं कृपालु हैं दयालु हैं ये भगवान कैसे सुंदर स्वभाव भगवान का है तो हनुमान जी भगवान के स्वभाव को देख करके प्रसन्न हो जाते हैं अब देखो हनुमान जी क्यों प्रसन्न हो जाते हैं एक अपनी बात को अगर देखे तो ये भी देख सकते हैं हनुमान जी स्वयं भगवान की शरण में है तो जब भगवान जब देखा कि भगवान को कैसा स्वभाव है हमारे साथ नहीं वो तो कोई भी हो उनकी शरण में आता है सबकी रक्षा करने वाले हैं सबको भयहरण करने वाले हैं तो हनुमान जी अपने भी लिए समझ गए कि हम भी भगवान की शरण में है हमारा भी भय दूर करने वाले हैं हमारी भी रक्षा करने वाले हैं हमारा भी कल्याण करने वाले अपने लिए भी समझ लिया और दूसरी एक बात और भी हनुमान जी ने समझ ली कि हनुमान जी पहले जब लंका में गए तो विभीषण के रात्र में पहुंचे छोटे छोटे विभीषण जागा जब तो जागा तो विभीषण राम राम करने लगा तो हनुमान जी ने कहा कि तो अच्छा व्यक्ति मिल गया यहाँ तो भगवान का भक्त मानो पड़ता राम राम बोल रहा है तो चलो उसे मिलना चाहिए हनुमान जी उसे मिले तो सब विभीषण ने सारी बात बताई हनुमान ने पूछा कि भाई तुम यहाँ निशाचरों के बीच में तुम भगवान के भक्त होकर के कैसे रहते हो तो विभीषण ने बताया कि भाई हम तो ऐसे रहते हैं जिन दस हनुमान जीव बिचारी जैसे दांतों के बीच में जीव रहती है तैसे इन निशाचरों के बीच में हम रहते हैं किसी प्रकार से तो हनुमान जी इनको समझाया कि तुम क्यों यहाँ रहते हो क्यों नहीं भगवान के शरण में जाते हो हम्म। तो जब भगवान उनको कह आए थे कि तुम उनकी शरण में जाओ तो यहाँ पर भी क्या होता है हनुमान जी देखते हैं कि जैसा हमने सुग्रीव को विभीषण को जैसी हमने शिक्षा दी थी भगवान की शरण में जाने पर वो भगवान शरणागत की रक्षा करने वाले हैं तुम्हारे सारे शोक के साथ यहाँ जो लंका में रह करके तुमको भोगने पड़ रहे हैं वो सब नहीं भोगने पड़ेंगे तो देखो भगवान ने विभीषण को शरण में ले लिया तो वो भी बात देखो पूरी हो गई जो कहा था विभीषण से वो विभीषण की बात पूरी हो गई विभीषण को निराश नहीं होना पड़ेगा विभीषण बाद तो में ये नहीं कहेगा कि हनुमान जी हमको तो ऐसे ही कह गए कि शरण में आने के लिए वहाँ पर तो शरण हमको मिली नहीं इसलिए वो बात भी पूरी हो गई तो कहते हैं शरण आगे तो कहूँ जे तजनी और निज अनहित अनुमान तो आप देखो यहाँ पर ये सिद्धांत इस प्रकार के अब मानो ये कथा सुनाते सुनाते भगवान शंकर जी पार्वती जी को बताते हैं कि नीत की बात ये है कि जो शरणा कद को जीत गए ये भगवान की बात नहीं अन्य लोगों के लिए भी कहते हैं जो लोग भी हो जो शरण में आए हुए की भजही जो शरण में आए हुए का त्याग कर देते हैं उसकी रक्षा नहीं करते क्यों तो निज अनहित अनुमान इसकी शरण में आने से हमारा अनहित है ऐसा समझते हैं जैसे कि मान लो कि कोई चोर है डाकू है दुराचारी है भ्रष्टाचारी है हाँ, वो भगवान की शरण में आता है तो अब ये कहेगी देखो भगवान तो ऐसे भ्रष्टाचारी दुराचारियों के पापियों को शरण में देने वाले हैं बदनामी हो भगवान की हम्म? इस डर के कारण कि कोई हमारी बदनामी न हो और उसको अपनी शरण में न ले हम्म? तो कहते इस बदनामी का दर्जन करना चाहिए उससे नहीं डरना चाहिए आप जानते हैं इसी प्रकार <clears throat> गौतम बुद्ध बुद्धत्व प्राप्त करने के बाद में जब वो तमाम लोगों को शिक्षा देते हुए घूम रहे थे जगह जगह कहा अंगुली माल एक डाकू मिल गया है हाँ? तो उस डाकू को भी गौतम बुद्ध की शरण में आ गया तो शरण में आ गया तो उसका भी उन्होंने सुधार कर दिया अब गौतम बुद्ध कहे कि देखो ये डाकू को साथ लिए घूमते हैं कहीं हमारी बदनामी न हो हाँ? कहे कि देखो कैसा महात्मा है बना घूमता है तो डाकुओं को साथ लिए घूमता है तो अपनी बदनामी के डर से उसको अंगुली माल को अपने साथ न लेते उसको तो नहीं है ये नियम विरुद्धवाद ये संसारी व्यक्ति संसारी नियम यहाँ काम नहीं करता यहाँ पर ये संत लोग हो भगवान के भक्त हो ज्ञानी हो चाहे भगवान हो ये लोग इस बात से नहीं डरते कि दुराचारी भ्रष्टाचारी आ गया तो इससे तुम्हारी बदनामी होगी इसके कारण उसको शरण में न लो ऐसा नहीं करते ऐसे ही तो एक जो वो गौतम बुद्ध के साथ में एक उसका नाम क्या था आम्रपाली नाम था क्या था वेश्या जो थी वो एक उनके शरण में आ गई हाँ? तो उसका भी उन्होंने उद्धार किया वेश्या से भी डर रही उनको की वेश्या उनके साथ में लगी डाकू उनके साथ में लगा करेंगे जो गड्ढे में पड़े हुए हैं उन्हीं का उद्धार करेंगे वही उनके शरण में आएंगे और इसीलिए महात्माओं का जीवन विज्ञानियों का भक्तों का जीवन विशेष जीवन इसीलिए है कि ऐसे व्यक्तियों का वो उद्धार करें इस प्रकार के एक नहीं हजारों उदाहरण आप अपने यहाँ साहित्य में देखेंगे इसलिए इस बात को अपनी बुद्धि में ठीक ठीक बैठा देना चाहिए ना समझी की बात नहीं करनी चाहिए